ટેરી ડાકણ બાઈકો બાઈકો એ શબ્દ એ શબ્દ રટ્યો તો હમણાં પર જાતે રહ્યો તો બાપજી જોડો તો કરો તો કે કાજળી આયરી કોસળી ને મહી રાતો રેટો હુખલી ગંગલી પદ્મો કાકી જીમો ભુવા શ્યારુ ડાકણે કૂદે રમદરે પાકે જાણે હરિયું ધાયડું ઘેટો ઘેટો એ એ પો રટ્યો તો હાગે દઈ જાઓ હમણાં પર જાતે રહ્યો અણરે બાબાજી કરો ની દમ થોડી રી જે भजन जी माथा ने तड़मो की जे सूरमो बाबू करे मन में विचार हमको सूटू पड़ो डोबर कूटू हो खो हो कोरा गोता खाऊं मन वाड़ बड़ा के ये गेले कबूरी ऊन रे काटेरी डाकण हमें तो मारे लंका में आगो कौम है अरे डेम्बू जी आया तो मने दे ओढ़बो हमें जाओ वर्तो थो में आई ओढ़ोने ओढ़ी ही और रोटे रसोई रसोई जी में ही और हमें सीख दियो लीनी बाबे डाकणु सीख कीजे मोंग सीधो सीधा लंकार जूने कीजे मारे गए कैसी मातृ लंका जावे वार्ता बसे समारोह साधवी सांभळे અવાર કે તું પરબાતી ઉતારું કે તો કે હું પહેલ કયું જોણી જે ભોપાજી જોણી જે હાગેરા અરે બિડી ઉડા રે બાબલિયા તે તું હીખ તો सुन ਸਮਰਿਓ ਮਾਤਾ ਦਾ संसारे वल्लियाद की संवाद छमड़े सित लगाए पुनवदे पावरी खे खारो समुद्र की ढल जाय लिनी बाबे डाकणू ही जाजे मोंग सीधो सीधा वे लंकार जूने कीजे मारे के तारो निकद्रिय जिले करती मौज रहन सीधो सिधरियो एकाई सो एकलो अरे भोइडली बाटे ने क्यों है घनोड़ी हदन कीजे भूम आडा समुद्रिय मार्गी सो बंदिया जिग जिगिए जिग जिगिए नौखे रत्नागर गुडला झाग कालो देड़ोरो पौनी लागे डरावणो आगो जाओ तो मरो समुद्र में डूब पासो जाओ तो बाबूजी देसी होंडियोरो जाजोई सो उड़बो रे महाधरणी खाए जो थने बोयोरो बासंग नाग बोय झीले पासो क्यों नहीं वालियो जे बो જેબો જેલી પાછો વાળ્યો તો હું कोने કોને લેવે બાબલીઓ ઠાકર પાબુરો नाम गुरु गोरखनाथ रो नाम समंद में सुटियो वायो है पानी बारो दे गयो समंदरिया विरोड़े न गयो समंदरी पहली तीर पानी नी लागो राई के पगड़ी की जी पागड़े वो देवासी में सातों समंदरी पहली पार होंडियो रो जेराव कोने की जे हम बड़े ਲੜਿਓ ਲੜਿਓ ਬੇਗਟ ਲੰਕਾਰੀ ਰਾਤ ਲਹਾਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਕੇ ਮਈਆ ਗੋਰੋਂ ਦੇ ਰਿਆ ਉੰਬਾਰੇ ਬਰਹੋਰੂ ਹੁਕੂਰੋਂ ਨੋ ਹਰਿਉ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਬਰਹੋਰੀ ਹੁਕੀ ਗੁਆ ਰੰਗ ਬਾਵੜੀ ਬਣ ਹੁਕੇ ਬਾਗੋ ਮੈਂ ਧੂਣੀ ਆਸਣੀ ਸੋ ਨੋਖਿਆ ਅਰੇ ਧੀਏ ਬਾਬੇਰੀ ਕੜਾਉ ਹਰਿਆਲੋ ਲੀਲੋ ਬਾਗ ਪਣ ਧੂਣੀ हूँ बोले बागो में हुआ मरवली सो कोयलो उन रे बाबा जी इथिए हूँ धूणी देनी उठाए दोरो मारे लंकारा नेना थने तोड़िया सड़की बाबे ने मन दिल में डोडी रीस बढ़ती धुई ने पुठाड़े बोंदे इन बाबा भाई रूप निद्रे तो लंकारो राई देख राई का बोल कोई के रे लंकारो राई को बेटियों बाबो बाबू कहनो है अरे भगवान महाराज आपो आप है બહાદી હતો જળતી ધૂઈ હતી જ્યાં કુઠાડે બોંધીને બાબુ વહી રહ્યો હે અરે કરાવો એને બાબેને દમ થોડી રીજે તો લંકારા રાયકા હુગરા તો હેંગ વોપા रो महाराज મારી ગલતી હોય માફ હોય બાપજી આપ કરો ને દમ થોડી રહી જે દાદા થોડા જતન કરો પણ મને હુગરા કરતા પધારો હું બેઠ ગયો બાબુ ધૂણી આસન કીજે નોખ માળા ફેરે શ્રી ભગવાન રી હુણરે લંકારો રાખ્યો અરે રાજા રામની દાદી કહ્યો તો કોઈ આપણી નીગરી મેળો કળાધારી બાબુ આવે તો મને જણ કર્યા તો મારે ભાઈ રે ઉગરું હોણો તો કે લિયા વહ કે લિયા ડોંગા કે લીએ મુગરે કે લીએ ઠુળે દાદી દાદી કરતા જાવે તો દાદીજી બોલ કોઈ કહેણું કી કો ભાઈ પોતો तो कहीं पोता कहीं गोतो मैं तो रावड़े आया हूँ तो क्यों आया भाई रावड़े होली आओ आवनी पर्व आवनी दियाली आवनी बार आओ आवनी पर्व आओ आवनी आज क्यों आया भाई आज दादी जी रावड़े आया हूँ अपनी निगरी में एक कड़ाधारी एक बाबू आयो है और मुख दादी जी ने कहो हुगरा हो तो मैं तो लंकारा राई का तो आज हैंगी हुगरा हो जाओ और आप ही जी हुगरा हो तो आपने कहने वास्ते आया हूँ आप कहो तो कोई ऐसा कड़ाधारी भगवान बाबू आवे तो मन जोड़ कर वेरे कारण आपने जान की नहीं जुनरे लंकारो राई को को बाबू कहीं जोड़े है कि भाई मुनी है तो कह दादी जी जोड़न में तो को नहीं कड़ियों में कटारी हाथ में सुरी और बाबेरी मीटे होंबी होंडियो भी फुरी उन्होंने लंकारो राई को को तो कह दो भाई हासी और को तो कह दो कूड़ी हुणो दादी जी हाडा हाथ वर में आप हो हाडा हाथ वर होंबलुड़ी हमड़ा हो आप हासी हासी को को नहीं तो आप कौन के ये कारण तो आया ही सो तो हूँ रे लंकार और आई को जात को आल भियो को भणेज जसमदर बारी को दी करो ठाकर पाबुरो खान प्रदान हरियो राई को रो है नाम होंटे रो हेरा आयो है होंटे ले जाए पो अर्थे गाडरिया सारे अंडर में डर में करया तो हमें सुनो रे लंकार और आई को नवगज दो बेरो खुदाय बाबे ने दो मई थिरकाय माथे बिर मिला दो हिरकाय जे बाबू है तो निकल रो है बारे हीरो है तो मई हुड़ है मई गड़े तो इतरो तो कयो है जंगल में रहता भूत सड़ी जुको सड़ी बीजी माथे बमे है और आवे बाबे ने गाड़ियों की जे बोलता तो नेड़ा आवता दीखा और हरमन मन में करे विचार दूधोरा धायोड़ा भूत कड़े करे जे माथे हूँ बपराई तो कौंदे हूँ टाड़े भी न माथे हूँ टाड़ी तो कौंदे में बपरा है कौंदे हूँ टाड़ी तो मोरों में भी बाह है मोरों टाड़ी तो गुडों में पर कड़े करे जे कम फर्क है को नी नेड़ा उदा अरे हरमंद ने लागू है भी जरा ठाकर पाबू गुरु गोरखनाथ रो नाम ले हाथों करने कार काटी गुरु जी बाबूजी वीरा राठौड़ थू टाड़े दुष्टोनो तो कार रे आया है अरे राई को री फुरगी है हणोरे लंकारो राई को बापड़े बाबे ने को कूटनो न को मारनो डोकरी रे कहने नव गज दो बेरो खोदाय बाबे ने दो मोई थिरकाय माथे ब्रह्म हिला दो हिरकाय जे हीरो बाबू है तो निकलन रो आ बारे तो पे पाओ हुगरा हीरो है तो मोई हुड़े न मोई गड़े तो कई पकड़ियो कौन કઈ પકડ્યો હોય હાથ તો બાબે ને ધરકા દીયો બાવડી રમો અને માથે ફરી મહેલા હરકા દીની હે એ તો જાતા રહ્યા તો ભૂખ જોવે નહીં ઓલણ ઊંઘ જોવે નહીં બિછાણો દાતારો રો નામ લેવું રાત ગળ જાવે ઠાકર બાબુજી બોલે બોલે ખમા ખમા ને ફીરિયારા પીર ભૂખો નો ભુજન ગઢપતિઓ નો ગોમ સોંદા સંદ્રવણ કા બાજે હરડા કોન કા રાઈ કો દ્રુબડ દાખવે तो तारो निकदरिया झली गलती रहा गलती रहन उए रे रमा की है ये थोड़ी की ओंख भेड़ी हुई है बेरी रे है उए टेम रे महाराज काल में उल्टी खेलाई जो को कोंदरी पापड़ी रो झेले बार बेहण दियो है पद्म हिला आती जे करो पद्म झाड़ पैदा कियो है ब्रो और मनसा अग्नि जलाए और धके पीड़ से दुबे है पड़ो और हाथ में दीनी भी माला अरे बैठो राम राम राम खुली हरमंदरी का जो बारी बैठो राम राम राम राम राम राम राम राम राम सतनाम सतनाम ऐज करे हरमल मना करे विश्वार भाई गुरु राठौड़ है भेड़ो जके में फर्क को नहीं तो दिनू गयो कास बिरादारो नरुल भण नंदनी ग्वाली उठी गुआ हुआ दौड़ता भागता हणो रे लंकारो राई को ठाली भूली डोकड़ी रे केरणे बाबू भगवान महाराज था परमेश्वर और जको ने आप फोड़ा खाचा ओपे और हमें बुट्टी बाड़ो डुकड़ी ने ओपे अगड़ा सेला हो जाओ बाबा डुकड़ी के ने आपने तकलीफ दी ने माफ करया और आप कृपा कर मोनो सेला करो आप माड़ा फिर आप भलो है उन रे लंकारो राई को सेला करो तो लागे दमट थोड़ी री जेज ओडोनी लागे मारे गरुरे नौ मरी हवा रुपये और धौली सादर री मारे लागे भाई बाप जी दौड़ो रुपियो अर दौड़ी सादर तो मोहरे लंका में देखने है कोने अर नालेर घणाई लाए ले आप दकी ढिक कर दे हो होंडियोरा भूरा भाखला आपने ओडा हो ले जाओ तो घणाई ओडा भी जो मोकल कहीं सुनो रे लंका और आई को ये डाकन के लारे क्या पड़ते हैं दटाक दटाक तो के बाप जी डाकन के नहीं ये साँढे लंकारी भूरी रात ले इसके लारे मेंगना पड़ते हैं अरे केरा रहा रे भाई हमारे जरा कोई साधु आया था इसकी ये डाकड़ माड़ा खाई ली नहीं वो माड़ा का मिणिया खरे है ए मेघना मैंने लाए थे तो मेरे माड़ा पुआ और माड़ा फेरा कहे बाप जी तुम भी सीपी हो रहा मोडो दूध पिलाओ एक लंकारी भूरी रातल सौंड को सुनो रे लंकारो राई को दूध एक दो मायरो बीजो गायरो तीजो बंदर आयरो और सौथो दूध है काय को अरे भोड़े देश का बाबू बाबूजी अरे लंकारी भूरी रात्र छांट का दूध बापसी दूध तू भी छुपी हेरा मंडा और दूध पिलाऊ एक लंकारी रात की जे छांट को नारे भाई पग तो प्याल में न संकाश में कोट का बोझ का खाती फिरे लारे झमरियो पूछ अरे धनी आवे तो लारे बाबे टापोरो इस डाकण को दूध पर पियो तो हाँ पर मर जाओ मर जाओ ओ बाप जी कहे देश का भोड़े देश का भोड़ो बाबू जी अरे लंकारी जाती शांत का दूध है मैं भी पी रहा हूँ सब लंका का उठी अरे आप दूध तुम भी छिपिया भरा मोड़ा वो दूध पिलाऊ एक लंकारी रही शांत का तो रे भाई आप घनी बात कहो तो देवासियों ए मेरी शवा पाप की तू भी है तू भी तने लाख प्रसाद गुरु गोरखनाथ ठाकर पाबूरी ओण है अरे गड़बे हूँ निशी रे पर ऊँची मत आई और तुम्बड़ी मेल दी नहीं है उठी मन में करे विचार भोड़े देश का भोड़ो बाबूजी कहे नगरी का है मैं छोटी मोटी नदी भी हलाऊ दूध की और आपकी सवा पाव की कैसे तुम उमकड़ी नहीं भरती और भर भर गेड़ा नौ ने पढ़ाए हरू पी है और तुम भी ने मैं पर खटने हरू हुए है तो नौ लाख उठी दस लाख करियो हगड़ो मरतो रह गयो तुम भी मैं पढ़ कुछ पढ़े तू भी दूध है ही नहीं अरे सुनो बाबा जी आपकी तुम भी में सड़ है कि बड़ है कि भूतनी है कि है कि जादू है को मंत्र है बाप जी दव नौ लाख करियो दस लाख मठ ओठी सगड़ा में मरता रह गया और तुम भी मैं पढ़ कुछ पढ़े बाप जी क्या है अरे भाई बोल लंका को राई को मेरी ये शवा पाव की तुमड़ी है भाई ये नहीं भरानी मैं कैसे आपके घर की अंजल करते हो रसोई बनाते हो कि बाप जी मैं तो दूध हता जो को कर दिया हाजिर आपने कि भाई कोई बात नहीं और ये डाकड़ के लारे मिणिया पड़ते ये मेरे को लाए दे तो मेरे माड़ा पोण है मेरे भौर का भी ठाणा बाप जी बड़े देश का बड़ो बाप जी अरे हम भर भर जोड़े और मींगना ला लेन कर दिया है भेड़ा और कहीं तो माड़ा पोए पे हेडन गलेरे में पेरे पे और कहीं बोर का पोए पे हाथों मोए सेप दिया है ये हाथों पकड़ मोर बोर खान माड़ा बीजे मिणिया ले लिया दूध ले लियो है और दिनू को काशिप राजा रो नरुड़ भावण दातारो रो नाम लेम राज सब सब गड़ जावी हुनरे लंकारो राई को भाई हमें तो दिन क्यों है आतना शामरा अर दौरो लकड़ कर कौन दे अर आया युक्ति बिना हो सत्संग बिना हो आतना लंकार राय को नहंगना हुगरा कर दे तो दिन को राय का कोई होंटियों में गया तो कोई तोड़ियों में गया आप आप धंधे लगा है अर बैठो बापो लो की खूंटी उठ के पवन की मुठी अर घमाक दे समुद्री होली तीरों ने अर जेड़े के उठारी करे बापू जी तो जावे बेटा अरे सुनो जी जाओ मती हूँ लंकारो राई को जात को आल बियो को भोणेज जिसम दरबारी को दी करो ठाकर रो खान परदान हरियो राई को मेरो है नाम रो हेरा आयो तो हो रे जो हो रे जो अरे आज तीजे दिन होंटे मैं ले जाई कैसे भातरो घरे आवे है अर वार्ता बसे है समारोह साध भी सौंबड़े है अबार कह दो पर्वती उतारू गए जके हूँ पहल टाटकिल तेर समझला बापू से पोंगड़ियो पायल बजावे भूखियो सुना साबे तमा थोरी में धर्म बापरे जके हूं पहल ओ जड़ी जे हो रे भलियाज की संभा सामने सिद्ध लगा ये बन वधे बाबरी खे खारो समुद्रों आ गई चल जा तारा नगदरी और झले करती मौत रहन सीधो सीधा कोड़ू रे जूने मारे गए वासा बच गयो धरती सारी में धोई लिखी जाए तीन पौधो मुद्रो में छोड़े कोड़ू में बकरो सो पागड़ो अरे बैठो माताड़ी रोज जाल दरबार ಮರಿ ಕಸಿಡಿದಳ ಮುದುರೋ ಕಿದೆ ಹಾಜಿಯೋ मरुजेरी रवारण मेला में दीवलो सजोग आयो परदेशी शिकृत कीजे ब्राह्मणों मेला में दीवलियो कीजे सजोग आयो मारे हंड्योरो हिराउ शिकृति सो ब्राह्मणों हम्म, बिजड़िए पंखे उनो के खमदान जीणो वाव भजन जी मावे माताड़ी तड़ुओं कीजे शूरमों પૂછે માતાડી હરમલ ને વાત કે અબખા ઘાટા કીજે સો લોંગિયા અણુ માતા જરણી દોરી કાટી તો ખોરી કીજે રાત દોરા અબખા ઘાટા કીજે લોંગિયા દેની લંકારી હોંડ્યોરા હેનોણ કેડી હેનોણે હોંડે સો ઓળખો અણન માજરણી આદિ હોંટ્યો રે બોંધી કો ગળે રે ગુગર માળ आदि हंडेरे बंध्या गल्ले रेशम की जय डोरड़ा रात सांस पड़े तो बाबू जी दिन दिन रात जो भाई हरमल रे मेल हम हरमल आयो को नहीं आयो आयो नहीं आयो एक दिन टेम रे बोल सके हूँ बागे ला सोमत का जायो हरमल राई के रे मोबी पूत नेत्र होंड्यो रो हेरा आयो शिकृत की जय ब्राह्मणो करताल बेगिरी ताकील खबरों कर दे हरमल रे गिरदी की जय कोटरी कर वे गिला ताल वेगी रीता कील वेगा राई का बोला ये भीरे गिरदी कोट में आधे ले झीली ले कड़ियाली की जय डोंग नखले बलम मुखमल मोजड़ी वे वे हाटो बजारो मोया मुजरा करे बसदी रा बोमन की जीवाणिया उन रे बसदी नो लोको माना करो ने जाजा जवार मुजरा करे ओ थड़ियो रे लक्ष्मण कीजे देव ने दिनु को कास बिरादर उन रोड़ बड़ भण બેઠો રાઈ કોરો જાલમ દરબાર ભરી કસડી ભાગી લે દળ મુજરો કીજે હાજો હણ આયે સોમત ને દીના ઘણા આદર કીજે મોહન આગા બરાજો ઢળી જસરી જાજમો કોની સોંદાજી સોમત મન થોરેરી વાત કિતરી કોમડ લે આયા थे મોરે રાઈ કોરો સિગત કીજે બ્રાહ્મણ ઊણો દેવાસીઓ કોમ કાર્યા ટાળે સેંસ કરણોરો કરતાર घर देखो में आया सिगरत कीजे ब्राह्मणा पढ़ियो आज थो कौमन कीजे काज थाना बोलाया बाबू जी बाबू जी भूरे गिरदी कीजिए कोर्ट में उठ गया का में मथेर मारी झड़का है लीनो भाई भतौजी और साथ है ओड़ी दौड़ी भाई भत्रीजा लीनो साथ है जिनमें में जावे साथ ठाकर पाऊ रे सिगरती सो ब्राह्मणा अरे दिनु को कासब राजा निर्वण आलो भियो रो साथ लड़मुजरो कीजिए हो आये राइकोन दिनो आदर कीजे मोन खोलो पकड़ की आगा बिराजो ढली जशरी जाज मो ज्ञानी देवासी मन थारे री बात केड़े दुखोरा घाटा कीजे लौंगिया अणो राम राठौर धसबंदी दोरी काटी तो खोरी कीजे रात अब का घाटा कीजे लौंगिया देनी होंड्योरा है नोण केड़े है नोण होंड्यो ने उड़को उड़को अणो राम राठौर धसबंदी ಆದಿ ಹೊಂಟಿಯವರೇ ಬಂದು ಗಳರೆ ಗುಗುರು ಮಾಳ ಆದಿ ಹೊಂಟಿಯವರೇ ಬಂದು ಗಳರೆ ರೇಷ್ಮ ಡೋರಿಡ तो नौके काशी दी कुंज खड़जे में हाथ दूधरी तू भी जात में सो मेलिए वैती तू भी कही समतो साथ जितने तो जमड़ो बैठोड़ो बोल कोई के होनो ठाकर बाबू जी बाबू जी ये हरिये राई के लिए आप बात मानो हो और आप ये रे तुम बेन बीजे फोरो सब महीना हुआ जावी जून की बाढ़ में खटू खटू करे बैठो अरे गिरडू गड़गड़ मिणिया ठाया है अरे जूनी खेड़े में आख निसो है हदई वो आखिरी तुंबड़ी भर लाई हो बाप जी आप जी आओ तुम भी आओ आख पीनो तो मर जाओ को दूध है इनको पूते कहीं को मैं ती मींगणोरी माला की ढेमड़े दड़बी रे हाथ उणो राव राठौर धजबंदी सौंदे ढेबे कीनी लंका में कणवार मुसर मराठे लंका में लाटा कीजे लाटिया ओढ़ के मन निगरी रो लोक ओढ़ के आडे वड़ेरे डावे कीजे गुजरे तो दूसरी तुम्बी की डेमड़े अमली रे हाथ डोकरे भूख देर साड़ी भी मोड़े जरो के सौंदे जी के होने रे डेमड़ा महाबली भाई हेंगो ने थोड़ो थोड़ो सखाओ जमड़े रे कहने मती गए तो जमड़ा तो बस जम नहीं रहा नौ में जम है बस है तो कूड़ी बोले ਤਵਣ ਵਾਗੇ ਲਾਸ ਸੁਣਦੇ ਵਾਸੀ ਬਲੀ ਹੀਰੀ ਗੜ ਲੰਕਾਰੀ ਹਾਤੜ ਹੋਂਡ ਬੱਲਾ ਹੀਰਾ ਜਲ ਰਾਥੇ ਸੂਸਰਾ ਇਹ ਰਾਈ ਕੇ ਨੇ ਕੜਾ ਕਿਲੰਗੀ ਦੋ ਸਿਰ ਪਾਵ ਰਹਿਤ ਬਖਸਾਵਾ ਰਾਠੜੋਰੀ ਜੁਨੀ ਵਾਲ ਲਰੋ ਕਪੜਾ ਪਹਿਰ ਦੇਵਾਸੀ ਉਤਾਰੇ ਨੀ ਭੰਗਵਾ ਵੇਖ ਕਪੜਾ ਮੈਂ ਰਾਸਾ ਪਹਿਰੇ ਮੁਲਮੁਲ ਧੋਤੀਆ ਉਤਾਰੇ ਨੀ ਭੰਗਵਾ ਵੇਖ ਕੜਾ ਕੜਾ ਪਹਿਰੇ ਨੀ ਠਾਕਰ ਪਾਗ ਬਜਰੀ ਰੀਜਰਾ तो कहीं कपड़ा उतारे कर वागिला सोमत ताल वेगिरी ताकी खुरसोणी देनी छोटिए मंडा आए तो हीरो कर गढ़लंकारी रातल सोण रो कैसी मात्रा हीरे जावे अर वार्ता बरसे संभारो साधवी सांवड़े पौस मोर रीजरी दीनी और होने रा कड़ा गाता देवासी रे पांच पौन को रा कपड़ा एक रो रीज मान रो पागू जी घोड़ो दीनो अरे हीरो करायो इतरे नाम रे मैं